और मूसा सलाम ने अर्ज किया ए हमारे रब बेशक तूने फिर और उसके सरदारों को दिए हैं बहुत से असबाब जीनत और अमवाल दुनिया की जिंदगी में ऐ हमारे रब ताकि वो लोगों को तेरी राह से गुमराह करते रहें ऐ हमारे रब उनके माल बर्बाद कर दे और उनके दिल सख्त कर दे फिर वो ईमान न लाए जब तक दर्दनाक अजाब देख न लें